छब्बीसवा श्लोक तक विचार हो गया है जिसमें सारांश है निकाला यहां कोई भी पदार्थ है संसार में जो भी पदार्थ है तीन रूप में पाया जाता है क्रिया कारक फल क्रिया को उत्पन्न कर्म उत्पन्न करने वाले कारक क्रिया पैदा करने वाले कारक कारक के द्वारा क्रिया की जाती है और क्रियाजन्य फल तीन ही होते हैं क्रिया कारक फल तीन रूप में विभक्त जो संसार है ये तीनों गुणों के कार्य में आते हैं त्रिगुणात्मिका प्रकृति है मूल प्रकृति त्रिगुण स्वरूप है त्रिगुण स्वरूप है उसके कार्य सब तो गुणों के कार्य प्रत्येक कार्य में तीन रूप पाया जाता है क्रिया में भी तीन स्वरूप सत्वा सात्विक राजस तामस और कारक में भी तीन रूप पाया जाता है सात्विक राजस तामस और फल सुखादि जो फल होंगे सुख दुखादि फल होंगे जैसा कर्म होगा उसके आधार पर फल होगा वो भी तीन रूपये पाया जाता है क्रिया कारक फल प्रत्येक तीन तीन रूपये पाया जाता है इसलिए राजस्तामस से बचने के लिए सात्विक का प्रयोग करें कर्म भी करें तो सात्विक करें कारक बने कर्ता बने तो सात्विक बने और फल भी सुख सुखादि जो फल सात्विक फल का उपभोग राजस से बचे इसके लिए प्रसन्न आ रहे हैं तो क्रियाकारक फल में से पहले ज्ञान तीन प्रकार के ज्ञान की चर्चा करते हैं तीन प्रकार के ज्ञान होता है साधकों को भिन्न भिन्न तरीके से होते हैं क्यों ये त्रिगुणात्मक है ज्ञान ज्ञान भी तीनों गुण का कार्य में आता है तो सात्विक ज्ञान राजस ज्ञान तामस ज्ञान ऐसा होता है तो पूर्व श्लोक में कहा था ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिदैव गुणभेदत प्रचित गुण संख्या ने यथावत ने भी पूर्व में कहा हुआ था ज्ञान कर्ता कर्म ज्ञान और कर्म कर्ता तीन ये कापिल शास्त्र में कहा गया इनके विषय गुणों के विचार विशेष रूप से वहां कहा गया है गुणों का प्रचित गुण संख्या गुण का जहां पर कथन होता है कहां कापिल शास्त्र में सांख्य शास्त्र वहां जैसा कहा यथावत वैसे ही यहां मेरे से सुनो जैसा वहां कहा उसी प्रकार मेरे से सुनो यथावत सुनो कहा उनको भी सुनो ज्ञान कर्म करता इसको भी सुनो जैसे काबिल शास्त्र ने कहा है सांख्यों ने कहा कि गुणों के विशेष रूप से कथन वही लोग करते हैं तीन गुणों की चर्चा में रहते हैं हमेशा जिंदगी उनकी उसी में होती है तो वहां जैसा कहा उसी प्रकार या गीता में मेरे से सुनो तब ये तीन तीनों गुणों की चर्चा है कर्म में तीन गुण की चर्चा होती है क्रिया में भी कर्म क्रिया में कर्म माने क्रिया और कर्ता और फल तीनों में पाया जाता है ये तीन से अतिरिक्त संसार है ही नहीं क्रिया कारक फल में संसार पूरे संसार समावेश है कारक रूप में है क्रिया रूप में है फल रूप में है संसार का भी वही होता है क्रिया कारक फल सब त्रिगुणात्मक है इसे तीनों प्रकार के चर्चा क्रिया तीन प्रकार की दिखाया गए समझना है समझने के बाद राजस त्याज क्रिया को त्याग रहा है सात्व को रख रहा है इस पर कारक भी तीन प्रकार के होते हैं क्रिया मैंने सात्विक राजस तामस सात्व को ग्रहण करना है राजस तामस को त्याग रहा है फल भी तीन प्रकार का होगा सात्विक आदि सात्विक फल को ग्रहण करना है अन्य त्याग रहा है तो पहले शुरू में दुख होता है जिसके लिए और परिणाम जिसका अच्छा होगा उसको सात्विक फल मानते हैं प्राप्ति सुख आदि मानते हैं पहले साधन करना कठिन होता है सब साधन संपन्न हो तो अच्छा फल मिलता है परिणाम अच्छा होता है ऐसा काम करना चाहिए बेटे फल और कभी भी पहले सुख हो बाद में दुख देने वाला राजस होता है वो करते समय आराम से हो जाए और बाद में परिणाम खराब हो ये राजस सुख की चर्चा में है जो और जो पहले भी कष्ट हो बाद में भी कष्ट हो उसको तामस रूप में लेंगे चर्चा होगी सबकी सबसे पहले ज्ञान की चर्चा है ज्ञान तीन प्रकार को बता गया ज्ञान से तो तावत त्रिविधम त्रिवत्व उच्चते कहा था तू तो मान किंतु तीन को बताया था पूर्व श्लोक में ज्ञान कर्म से करता से बोला था तीनों हुई तीन तीन प्रकार के करके कहा था उनमें से पहले ज्ञान के बारे में सुनो तीन प्रकार के ज्ञान तू तो मान किंतु ज्ञान से तावत त्रिविधत्व मुझे तब तक सबसे पहले ज्ञान के तीन प्रकार कहा जाता है यहां ये कहना है सर्वभूतेषु एनैकम भाव अव्ययमीक्षते अविभक्तम विभक्तेषु तज्ञान विद्य सात्विक सर्वभूतेषु एनैकम भाव अव्ययमीक्षते अव्यक्तम विभक्तेषु तज्ज्ञानम विद्धि सात्विकम सर्वभूतेषु भवंती तो भूतानी सर्व प्राणी मात्र जितने भी हैं सब भूत इन भूतों में प्राणियों में एन ज्ञान जिस ज्ञान के द्वारा एन ज्ञान है ना सर्वभूतेशु एकम भावम अव्ययम इक्षते एकम अव्ययम भावम इक्षते एक ही भाव माने वस्तु एक ही वस्तु अव्यय वस्तु अभिमान अविनाशी वस्तु को देखता है एक इक्षते करता जिस ज्ञान के द्वारा संपूर्ण प्राणी मात्र में एक आत्मदर्शन होता कि एक करता है करता यही है अविनाशी भाव एक ही आत्मा ही है वो भाव माने वस्तु वो वस्तु आत्म वस्तु ये अविनाशी है अव्यय का हुआ है अविनाशी वस्तु तो जिस ज्ञान के द्वारा ज्ञाता जो जानने वाला व्यक्ति है तो संपूर्ण भूत मात्र में एक ही आत्म दर्शन करता है जिस ज्ञान के माध्यम से एक ही आत्मा है ऐसी बुद्धि जिसकी होती है भिन्न भिन्न आत्मा नहीं जैसे आदि मानते हैं प्रत्येक शरीर में भिन्न भिन्न आत्मा है नई नैयायिक आदि मानते ऐसा नहीं एक ही है सर्वभूतेश एकम भावम अभिवृक्षा कहा है एन ज्ञान एन मन ज्ञान जिस ज्ञान के द्वारा सब पूर्ण भूतों में सर्वभूतेशु अव्ययम भाव एकम अव्ययम भाव विक्षते ज्ञाता ज्ञाता जो होगा एक ही अविनाशी तत्व को देखता है सभी भूत मात्र में प्राणी मात्र में और अविभक्तम जो भूतेशु विभक्तेशु भूत विभक्त है प्रत्येक शरीर आदि भिन्न भिन्न है विभक्त है विभक्तों में अविभक्त एक तत्व देखता है संपूर्ण विभक्त पदार्थों में एक ही तत्व देखता है जो व्यक्ति जितने भी घट बनाते बनाया जाता है घट विभक्त है भिन्न भिन्न होते हैं किंतु आकाश एक ही होता है वो देखने वाला वास्तविक आकाश दृष्टा होता है भिन्न भिन्न आकाश देखने वाला आकाश को जानता नहीं हो तो भिन्न भिन्न आत्मा मानने वाले जो होते हैं आत्मा को जानते हैं वास्तव में यही है संपूर्ण भूतों में सर्वभूतेशु करता प्राणी मात्र में ए न ज्ञान है ना जिस ज्ञान के द्वारा एकम भावम अभ्यम विकसित है एक ही भाव मानी वस्तु है वो अविनाशी अभ्यम मानी अविनाशी जो वस्तु है देखता है इक्ष दर्शन धातु है कौन देखता है ज्ञाता जानने वाला व्यक्ति देखता है एक ही आत्मतत्व सर्वत्र है अविनाशी आत्मतत्व जानता है और विभक्तेशु अविभक्तम विभक्त भूतों में अविभक्त आत्मा को दर्शन करता है भूत विभक्त है भिन्न भिन्न है प्रत्येक शरीर आदि भिन्न है उनमें अविभक्त एक ही आत्म दर्शन करता है जिस ज्ञान के द्वारा जानने वाला ज्ञाता होगा तज ज्ञान वही ज्ञान उसी ज्ञान वो ज्ञान सात्विकम विद्धि तुम सात्विक ज्ञान समझो उसको उसको सात्विक ज्ञान समझो उसी का ज्ञान नाम सात्विक पता हमारा सर्वत्र एकात्म दर्शन ज्ञान जो होगा उस ज्ञान को सात्विक ज्ञान समझना है तो प्रकृति का कार्य है ज्ञान भी अंतर्गत अवस्था में ज्ञान होता है वृत्ति है वो अज्ञान दशा का ही है ये भी तो किंतु वो ज्ञान सत्वगुण से उत्पन्न है वो ज्ञान इसलिए सात्विक ज्ञान है वो आत्मदर्शन होता है जिस ज्ञान के माध्यम से ये कहा है भाष्य में कहते सर्वभूतेशु अव्यक्तादि स्थावरांतेशु सर्वभूत का अर्थ प्रकृति से लेकर के स्थावर तक माने स्थिर रहने वाले वृक्ष आदि तक जितने भी है सारा संसार भूत शब्द से भवदित भूतान संकोचित अर्थ नहीं है भूतों का है भूत शब्द का अर्थ विस्तृत है अव्यक्ता अव्यक्त आदि से स्थावरांतेशु अव्यक्त आदि में अव्यक्त है माने प्रकृति और अंतिम क्या होता तो है थावर जो माना जाता है ये भूत होते हैं इन सब में भूतेशु ये न ज्ञान न ये न मान ज्ञान न जिस ज्ञान के द्वारा यही है एकम भावम वस्तु भाव शब्दों वस्तुभाषी कर रहे एक ही भाव वस्तु को देखता है ज्ञाता इक्षत है ना इक्षत दर्शन धातु तो देखने वाला देखने वाला दृष्टा होगा जो दृष्टा सभी भूतों में एक ज्ञान ही देख माने एक ही ज्ञान वस्तु को देखता है जिस ज्ञान के माध्यम से तो ये भाव माने वस्तु भाव माने वस्तु भाव शब्द हो वस्तुवाची या जो श्लोक में आया हुआ भाव शब्द है वस्तु का वाचक है भाव एकम आत्मवस्तु इत्यर्थ है भाव का अर्थ है एक ही आत्मवस्तु को देखता है दृष्टा देखने वाला व्यक्ति एक ही को देखता है प्रकृति से लेकर के स्थावरता संपूर्ण संसार में एक ही आत्मवस्तु जिसकी दृष्टि में है और दूसरी बात बोलेगी आगे कैसा है तो अव्ययम न थे अव्ययम जिसका व्यय होता है खर्च होता है नाश होता है उसको व्यय कहते हैं न थे अव्यय जिसका नाश नहीं होगा उसको अव्यय कहा जाता है तो आपको वस्तु अव्यय है वह भाव वस्तु का विशेषण है अव्यय स्वात्मरा धर्म कूटस्थ ऋतु कहते हैं अपने से भी व्यय नहीं होगा धर्म से भी व्यय नहीं होगा गुण गुणादि के द्वारा भी उसका नाश नहीं होगा गुणनाश से भी वस्तुनाश कहा जाता है वो नहीं गुणनाश से भी वस्तुनाश नहीं स्वतः भी नहीं स्वतः नाश भी नहीं परदा नाश भी नहीं स्वात्मना स्वयं अपने रूप से अथवा धर्म एवं धर्मों के द्वारा न बेती अभ्ययम माने अर्थ निकल कूटस्थ नित्य देखो माया को भी नित्य बोलते हैं आत्मा को भी नित्य बोलते हैं थान थान पर तो कैसा माया परिणामी नित्य है अपने रूप नहीं है रूपांतर से नित्य चल रहा धारा चल रही उसकी प्रभाव चल रहा है परिणामी नित्य है कौन माया माने आगे आगे आगे बदलती जा रही है किंतु नाश नहीं हुआ रूपांतर होता जा रहा किसका माया का स्वरूप परिणामी नित्य है माया और आत्मा कूटस्थ नित्य है न बिगड़ता हुआ नित्य है परिणाम नहीं होता आत्मा का जो प्रत्यो रहता है आत्मा और माया में नित्यत्व में इतना अंतर है वो परिणामी नित्य है आत्मा कूटस्थ नित्य है निर्लेप नित्य है वहां कोई परिणाम नहीं होता आत्मा का माया का परिणाम होता रहता है परिणाम भी उसमें नित्य है किंतु स्वतः नित्य नहीं है वो परिणाम ही नित्य है माया आत्मा कूटस्थ नित्य है निर्लेप वहां पर आत्मा का चेतन का परिणाम नहीं होता माया का ही परिणाम होता है परिणाम भी से नित्य माया भी इसलिए नाम तो न जारी रसम इत्यादि संसार विकृत चर्चा में कहा था परिणाम नित्य है वो और आत्मा कूटस्थ नित्य है ये स्थिति है कूटस्थ नित्यम इत्यर्थ ही अब का अर्थ कूटस्थ नित्य है आत्मा यही अर्थ है इक्षते यह न ज्ञान है न पश्यति इक्षत मैंने पश्यति इक्षा दर्शन धातु है जिस ज्ञान के द्वारा दृष्टा ऐसा देखता है सारे संसार में एक ही आत्म तत्व तो दर्शन करता है जिसका ऐसा ज्ञान होगा कोई ज्ञान उसके पास जिस ज्ञान से सारे संसार में एकमात्र एक विवादित तो आत्म तत्व का दर्शन होता हो उस ज्ञान को सात्विक ज्ञान समझना ये कहना है तम जब आवम अविभक्त वो भाव है ना जो वस्तु आत्म वस्तु अविभक्त है विभक्त नहीं है प्रत्येक शरीर में भिन्न भिन्न जैसा लगता है वास्तव भिन्न नहीं है अविभक्तम जब उदेश का होगा सारे भूतों में विभक्त भूतों में अविभक्त है विभक्त नहीं है एक ही है आत्मवस्तु अविभक्तम भूतेश अर्थ करते ही कहा तमज भावम अभिभक्तम कहा वो जो भाव मैंने आत्मवस्तु की चर्चा की थी पूर्व में भाव शब्द से कहा हुई आत्मवस्तु अविभक्तम विभक्त नहीं है प्रतिदेहम अविभक्तम कहते प्रत्येक शरीरों में विभक्त नहीं है एक ही है विभक्तेशु देह भेदेशु शरीर आदि में भेद है शरीर भिन्न भिन्न प्रकार के दिख रहे हैं फूल है सूक्ष्म है कृष्ण इत्यादि भिन्न भिन्न शरीर में भेद है प्रत्येक शरीर में किंतु मतलब आत्मा भेद नहीं है छोटा बड़ा जितने भी छोटे बड़े जितने भी घड़े होंगे आकाश में भेद आएगा क्या नहीं आकाश में भेद नहीं है वो तो उनमें भेद है घटों में भेद है इस प्रकार शरीरों में भेद है अविभक्तम चबूत भूतेशु कहा अविभक्तम विभक्तेशु जो विभक्त प्रत्येक शरीर है उन शरीर में अभिभक्त है विभाग नहीं आत्मा का ऐसा देह भेदेशों का अभिभक्ति से देह भेदेश जितने भी शरीर है ना उसमें शरीर में भेद है प्रत्येक शरीरों में किंतु आत्मा में भेद नहीं एक ही आत्मा है न विभक्तम जैसे शरीर में विभाग है उसको विभक्त नहीं अभिभक्त कर न विभक्तम तद आत्मवस्तु जो आत्मवस्तु शब्द से लिया था भावम शब्द से इसको बोला था पूर्व में वही आत्मवस्तु अविभक्त है विभक्त शरीरों में एक आत्मा व्योमवत निरंतरम कहते हैं जैसे घट के अनेक रहे पर आकाश एक ही होता है आकाश में भेद नहीं होता अज्ञानी की दृष्टि में आकाश भिन्न दिखता है वास्तव में आकाश तत्व को जो समझता है वह उसके दृष्टि में आकाश एक ही है आकाश भेद नहीं है एक ही आकाश है यही है व्योमवत निरंतरम यही अर्थ है अव्योक्तम अर्थ है जैसे आकाश होता है ना बाहर भीतर में एक ही है वो इस प्रकार एक ही ऐसे ही एक ही वस्तु है सर्व ये जो ज्ञान जिस ज्ञान से ये ये जानता है व्यक्ति जिस ज्ञान से ऐसा दिखता हो सारे मैं जब संसार में एक ही आत्म तत्व तो दर्शन होता है जिस ज्ञान के द्वारा उस ज्ञान को सात्विक ज्ञान समझना है यही है तद ज्ञानम अद्वैत आत्मदर्शन ये जो ज्ञान कैसा ज्ञान अद्वैत आत्मा के दर्शन हुआ सारे संसार में एक ही आत्मदर्शन हो रहा है जो अद्वैत आत्मदर्शन जो है वो ज्ञान सात्विकम सम्यक दर्शन ठीक है सात्विक और सम्यक ज्ञान समझो उसको सात्विक समझो उसको सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान विद्धि सात्विक मैंने सम्यक ज्ञान समझो उसको यथार्थ ज्ञान समझो वही ज्ञान सतगुण जन्य ज्ञान वृत्ति है अंतर्गत की वृत्ति है सतगुण जन्य है ठीक है यहां भी द्वैत दर्शनानी जितने भी द्वैत दर्शन जितने भी हैं द्वैतवादी आचार्यों के दर्शन है जितने भी हैं चाहे नैयायिक का हो चाहे सांख्य का हो या योगी का पतंजल आदि का जितने भी हो द्वैत दर्शन जितने भी हैं यानी द्वैत दर्शनानी तानी असमय भूतानी समय भूत नहीं है समय यथार्थ ज्ञान नहीं हो यथार्थ ज्ञान नहीं है वहां राजसारी तामसारी कोई राजस ज्ञान है वहां कोई तामस ज्ञान है कहा द्वैत दर्शन में सात्विक ज्ञान नहीं हो यथार्थ ज्ञान नहीं हुआ न साक्षात संसार उचित है भवन संसार के लिए साक्षात संसार के नाश के लिए वो ज्ञान नहीं होते कौन से ज्ञान जो द्वैत दर्शन वाले ज्ञान है जो राजस ज्ञान तामस ज्ञान है साक्षात आप मतलब संसार के नाश के लिए मोक्ष के कारण नहीं बन सकते ये कहा टीका में कहते हैं ज्ञानादिकाम प्रत्येकम त्रैविध्यम ज्ञातव्यम प्रतिज्ञा पूर्व में कहा था पूर्व श्लोक में ज्ञानादि पदार्थों को प्रत्येक को तीन तीन रूप से जानना चाहिए कहा था पहले ज्ञानम कर्म करता च त्रिदय गुणवेदता पुरचते गुण संज्ञान यथावश्य श्रोता ने भी कहा था जानना चाहिए कहा था प्रतिज्ञा ऐसा प्रतिज्ञा पूर्व में की भगवान ने और ज्ञानत्र विद्यार्थम ज्ञान के तीन प्रकार के ज्ञान के लिए श्लोक त्रय अवतार तीन श्लोक बीसवा इक्कीसवा बाईसवा तीन श्लोक के अवतरण देते कहा था ज्ञान से तो तावत उच्चते तो करके कहा था वास्तव में टीका अच्छा। में आगे कहते हैं तत्र सात्विकम ज्ञान हो रहे तीन प्रकार के ज्ञान है उनमें से पहले सात्विक ज्ञान को ही रखते हैं सर्व इत्यादि कहा सर्वभूत भूतेश नैकम भावम अभ्यमिक्षति इत्यादि सबसे कहा था ये सात्विक ज्ञान के बारे में भूतानी कार्यकारापकानी उपाधि जाता नहीं भूत माने उपाधि मात्र को भूत कहा गया कहते हैं जो शरीर और इंद्र थोड़ी सूक्ष्म शरीर का पूज्य होता है उसको भूत शब्द से कहा गया है है भूतानी माने क्या है कार्य कार्य आदि कार्यकार भाव से भूत है मृत्यु का कारण है तो घट कार्य है और मृत्यु का कार्य है तो वो जल का कारण है इत्यादि इत्यादि कार्यकार भाव से बैठे सारे भूत कार्यकार भाव से भूत है सारे के सारे भूत इत्यादि भूत यही होते हैं कार्य आदि उपाधि आकार आत्मा के उपाधि है सबके उपाधि है कौन ये भूत ये उपाधि वर्ग जितने भी भूत कहा जाता है अद्वितीय अखंड एक रसम प्रत्येगात्मभूतम अबाधितम तत्व ज्ञेयत्व विवक्षित ये ज्ञ रूप से जानना योग्य क्या है अद्वितीय आत्मतत्व ही जानना यह यहां विवक्षित है ये जो ज्ञानों की चर्चा करने जा रहे हैं तीनों में यह क्या है अद्वितीय आत्म तत्व ही ज्ञाय वस्तु है जानने योग्य वस्तु है ये सिद्ध करने यह युक्ति संगत कहते हैं अद्वितीय अखंड एक रसम जो अखंड एक रस है एक स्वभाव है कभी खंडित नहीं होता भेद भेद नहीं होता इसका प्रत्यगात्मभूतम अंतर्यामी रूप से बैठा हुआ भीतर अबाधितम किसी के द्वारा बात नहीं होता मैं था मैं हूं मैं रहूंगा ये बुद्धि होती है सबकी बुद्धि ऐसी होती है तीनों काल में बात नहीं है ऐसे जो अबाधित तत्व है तो ज्ञेयत्व है जानना जानने विषय रूप से यही जानना है यहां ज्ञान का विषय कौन होगा अद्वैत आत्मज्ञान आत्मा अबाधित आत्मतत्व तत्व ये ज्ञान का विषय होगा जिस ज्ञान का विषय होगा वो ज्ञान सात्व ज्ञान है जिस ज्ञान का विषय है अद्वैत आत्म तत्व होता हो द्वैत वस्तु नहीं होता हो उसी ज्ञान को सात्विक ज्ञान कहते यही है एकम इत्यादि होगा एकम भावम अव्यम इत्यादि कहा था भाष्य में भी एकम भावम वस्तु माने भाव दो तो वस्तुवाची इत्यादि कहा था एक वस्तु को ही जिस ज्ञान के द्वारा व्यक्ति देखता हो उस ज्ञान को तू ज्ञान कहते हैं ये कहना है विवक्षतम अव्यय तुम संक्षिपति अव्यय माने कैसे अव्यय है परिणामी अव्यय है अथवा कुटस्थ अव्यय है कुछ तो परिणामी अव्यय है माया बदल बदल के चल रही है किंतु है तो है पर वो नाश तो नहीं हुआ रूपांतर होते हुए जा रही है तो ऐसे परिणामी है अथवा कुटस्थ है तो ये कहते हैं अव्यग संक्षेप से बताते हैं कूटस्थ नित्यम इत्यादि कहा था कूटस्थ नित्यम इत्यर्थ परिणामी नित्य नहीं आत्मा अभिन अव्यय का अर्थ यही है प्रतिदेहम अविभक्तम इति उत्तम प्रत्येक शरीर में एक ही आत्मतत्व विभक्त नहीं आत्मतत्व ऐसा कहा जनक जी उसी को स्पष्टीकरण करते हैं विभक्तेशु कहा भाष्य में कहा था जो भिन्न भिन्न भूत है ना विभक्त भूत है हम्म। तो विभक्त भूतों में प्रत्येक शरीर में जो विभक्त है भूत में उसमें विभक्त नहीं कहा था यही है प्रत्येहम विभक्तेशु देहेशु वेदेशु न विभक्तम ये था प्रत्येक शरीर में मानी विभक्त शरीर भिन्न भिन्न शरीर है प्राणियों के उनमें अविभक्त है आत्मा एक ही है तज ज्ञानम इत्यादि तज ज्ञानम विद्धि सात्विकम कहा हुआ है उसी ज्ञान को हो एक ही आत्म तत्व का दर्शन जिस ज्ञान से होता हो सारे संसार में वो उस ज्ञान को सात्विक ज्ञान कहना ही कहा था तज ज्ञानम विद्य सात्विकों का उसको प्रसिद्ध करते कौन अद्वैत आत्मदर्शन सात्विकम सम्यक दर्शन विद्धि यही कहा हाँ। तो अद्वैत जो आत्मज्ञान है सात्विक सम्यक ज्ञान वही है उसी को तुम समझो ये कहा था विद्युषात्मक घात नहीं है द्वैत दर्शन अति कांक्षित भवती सत्व निर्वृत्ता सम्यंजी इतिहास जितने द्वैत दर्शन हैं द्वैतवादियों का दर्शन है जितने भी है द्वैत दर्शनानी अभी जो द्वैत सिद्ध करते हैं जितने आचार्य लोग ऐसे हैं वो भी कांक्षित भवती सत्व निर्वृत्ता कुछ कुछ तो ऐसे होते हैं सत्व को संपादित करने वाले होते हैं सत्व वस्तु को संपादित आत्म वस्तु को सिद्धि करने वाले कुछ तो हैं द्वैत दर्शन भी सम्यक जी सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन होते हैं वो भी तो अद्वैत दर्शन मात्र सम्यक दर्शन कैसे बोल दिया द्वैत दर्शन भी सम्यक होते हैं कुछ तो कुछ होते हैं कारण चीज सब न हो कुछ तो होते हैं आत्मदर्शन के योग्य होते हैं तो कहा यानी इत्यादि भाषा का यानी द्वैत दर्शन है जितने द्वैत दर्शन है द्वैत ज्ञान है तानी असम्य भूतानि कार्य सम्य ज्ञान नहीं हो तो ज्ञान तो वही है अवेद दर्शन ज्ञानम अवेद दर्शन को ही ज्ञान कहते हैं ध्यानम निर्विषय मन ध्यान क्या है मन में विषयों के अभाव कर देना कोई भी विषय न हो निराकार बना देना मन को उसका नाम ध्यान है अद्वैत दर्शन ज्ञानम अवेद दर्शनम ज्ञानम ध्यानम निर्विषय मन स्नानम मनो मलो मनोमल त्याग शौचम इंद्रिय निग्रह ये चार बातें बताई है अवेद ज्ञान को ही ज्ञान कहा दर्शन को ही ज्ञान कहा जाता है अवेद दर्शन ज्ञानम ध्यानम निर्विषय मन ध्यान उसी का नाम है मन में विषय का अभाव कर देना कोई भी विषय ना हो इसका नाम ध्यान होता है मैंने विषय कोई आकार न हो मन में विषय आकार न हो उसको ध्यान कहा जाता है स्नानम मनोमल त्याग मन के जो मल है काम क्रोधादि जो मल है मन, मन में उसको त्यागने का नाम है स्नान शौचम इंद्रिय निग्रह और शुद्धता क्या है इंद्रियों के अपने अधीन करना इंद्रियों को अपने अध्ययन करना ये शुद्धता है ऐसा कहा गया है तो यान इत्यादि कहा था यानी द्वैत आने तानी असम्य भूतानी भाषा में बोला द्वैत दर्शन जितने भी हैं ये सम्यक ज्ञान नहीं है तेसाम असम्यक तो हेतु मान द्वैत दर्शन सम्यक ज्ञान नहीं है इसमें हेतु बताते हैं राजसानी तामसानी का वो रजगुण है राजस ज्ञान है या तामस ज्ञान है वह सम्यक ज्ञान नहीं हो सकते ये कहा ठीक है आगे कहते हैं ठीक है प्रतिदेहम अन्य भिन्ना भिन्नात्मनो यह ज्ञान न जानाते तद ज्ञान राजसवित व्याख्या और प्रत्येक शरीर में आत्मा को भिन्न भिन्न रूप से जिस ज्ञान से व्यक्ति जानता है प्रत्येक शरीर में भेद है ऐसे निश्चय करता है जिस ज्ञान के द्वारा व्यक्ति उस ज्ञान को राजेश ज्ञान समझना द्वैत बुद्धि जितने शरीर हैं उतने आत्मा है ये बुद्धि जिस ज्ञान से ऐसे जाना जाता हो उस ज्ञान को राजेश ज्ञान कहते हैं अद्वैत ज्ञान जो देखना करना जिस ज्ञान से होगा उस ज्ञान को सात्विक बोलते हैं द्वैत दर्शन होगा जहां जिस ज्ञान से प्रत्येक शरीर में आत्म भिन्न भिन्न है बनती हो ऐसे जानकारी को राजस्व ज्ञान बोलते हैं यही है प्रतिदेहम देहम देहम प्रति प्रतिदेहम अव्यभाव समास है प्रत्येक शरीर में जितने शरीर है संसार में प्रत्येक शरीर में अन्यत्व न भिन्नत्व न भिन्न भिन्नात्मनो ये न ज्ञान में जाना थी कहा भिन्न भिन्न आत्मा का जिस ज्ञान से भिन्न भिन्न आत्मदर्शन होता हो जिस ज्ञान के द्वारा दृष्टा जानता हो ज्ञाता जानता हो तद ज्ञानम राजस्व ज्ञात वही ज्ञान राजस ऐसी व्याख्या करते हैं भेद बुद्धि जिस ज्ञान से होती हो ज्ञान को राजस ज्ञान बोलते हैं रजोगुण से संपन्न ज्ञान है वो ये कहना है ये कहना है पृथक्व अज्ञानम नाना भावान पृथक विधान यदि सर्वेशु भूतेषु तज्ञान ज्ञानम विद्धि राजसम पृथक्वेन भी अज्ञानम नाना भावान पृथक विधा व्यक्ति सर्वेशु भूतेषु तज्ञान विद्धि राजसम तू किंतु पूर्व से विलक्षण दिखाने के लिए पूर्व में सात्विक ज्ञान की चर्चा थी जो अभेद दर्शन था सारे भूतों में एक ही ज्ञान जिस ज्ञान के द्वारा एक ही आत्मदर्शन होता था उसको सात्विक ज्ञान कहा गया था तू तो माने किंतु किंतु पृथक देना भिन्नत्व प्रत्येक शरीर में भिन्न रूप से आत्मदर्शन जिस ज्ञान से होता हो प्रत्येक शरीर में आत्मा भिन्न है एक नहीं है ऐसा पृथक तो ज्ञान तो मन किंतु पृथक तो ज्ञान भिन्न भिन्नत्व रूप से जो ज्ञान होगा प्रत्येक शरीर में आत्मभेद दिखता है जिस ज्ञान से नाना भावा नाना वस्तु जो नाना वस्तु है अनेक वस्तु है विभक्त वस्तु है ना नाना वस्तु नाना शरीर पृथक बिना नाना नाना आकृति वाले भिन्न भिन्न आकार वाले जो भिन्न भिन्न वस्तु हैं उनमें प्रत्येक में आत्मा है भिन्न भिन्न आत्मा है जो समझता है जितने शरीर है उतना आत्मा है नाना भावा नाना वस्तु जो अनेक वस्तु हैं और पृथक विधान भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तु है एक ही प्रकार के नहीं सब एक मनुष्य होगा दूसरा पशु होगा पक्षी होगा भिन्न भिन्न प्रकार के हैं उस सब में व्यक्ति इस प्रकार से आत्मा को भी वस्तु के भेद से भेद भी जो देखता जानता हो जिस ज्ञान के द्वारा होता हो व्यक्ति सर्वेश से सभी भूतों में भिन्न भिन्न आत्मदर्शन होता हो तज ज्ञान व्यक्ति राजस उस ज्ञान को तुम राजस ज्ञान समझो रजोगुण से उत्पन्न ज्ञान समझो ये कहा है पृथक न भेद है पृथक शब्द का मतलब भेद भिन्न भिन्न भिन्नत्वेन यही अर्थ होता है प्रतिशरीरम अन्यत्व उसी का आता है प्रत्येक शरीर में भिन्न भिन्न रूप से आत्मदर्शन होता है यह आत्मा भिन्न है यह आत्मा भिन्न प्रत्येक शरीर में आत्मा भिन्न भेद देखता हूं कि द्वैतवादी तर्क देते हैं यदि आत्मा एक ही हो तो बंध मोक्ष व्यवस्था नहीं बन सकती है और मुक्त हो गया तो बंधन है ही नहीं बंधन है तो मुक्त नहीं एक ही आत्मा में बनता ही नहीं आत्मभेद माने को एक आत्मा मुक्त हो जाता है दूसरा आत्मा बंधन है ठीक है हो जाता है संसार की व्यवस्था बिगड़ जाती है सुख दुखादि व्यवस्था बिगड़ जाएगी एक ही आत्मा मानने पर अगर एक को सुख हो तो सबको सुख होना चाहिए एक ही आत्मा में होता है क्या दुख हो तो एक रोए तो सबको रोना चाहिए व्यवस्था बनती ही नहीं एक आत्मा मानते ये तर्क देते हो लोग किंतु ये सिद्धांत बोलते व्यवस्था है औपाधिक वेग से व्यवस्था है वास्तविक अवैध है औपाधिक भेद है औपाधिक भेद को लेकर सब व्यवस्था बन जाए बंद मोक्ष आदि व्यवस्था कोई व्यवस्था में कोई रुकावट नहीं सब हो जाता है औपाधिक भेद मानते हैं वास्तविक भेद नहीं आत्मा में स्थिति है तो कहते हैं भाष्य में कहते हैं पृथक तो मन भेदे न प्रति शरीर में अन्य प्रत्येक शरीर में भिन्न भिन्न रूप से इस ज्ञान जो ज्ञान ऐसा ज्ञान होगा नाना भावान भिन्नान आत्मना भिन्न भिन्न आत्मा को जानता हो जिस ज्ञान के द्वारा भिन्न भिन्न आत्मा जानता हो प्रत्येक शरीर में पृथक विधान में पृथक प्रकार भिन्न भिन्न प्रकार की आत्मा जैसे जैसे शरीर है वैसे वैसे आत्मा भिन्न भिन्न प्रकार की आत्मा जानता हो भिन्न जित है माने जिस आत्मा शरीर भिन्न होने से आत्मा भी भिन्न भिन्न आकार वाले पाए जाते हैं भिन्न लक्षण जैसे जैन लोग मानते हैं जितना बड़ा शरीर उतना शरीर बड़ा आत्मा आत्मा के परिणाम उन्होंने मध्यम माना हो क्या माना होगा हाँ। यदि हाथी का शरीर में आत्मा था पहले आत्मा अपने कर्म के आधार पर और यदि मच्छर के शरीर में चाहे अगले जन्म में तो कितना अंश जाएगा आत्मा का उसके बाकी सब बाहर लटकेगा और पहले शरीर में जो मच्छर रहा होगा मच्छर शरीर में रहा होगा जो आत्मा दूसरे शरीर में हाथी बन गया तो कहां रहेगा वो आत्मा एक कोने में गए रहेगा बाकी आत्मा नहीं रहेगा ऐसी स्थिति आ जाएगी मध्यम आत्मा का परिणाम मानने आत्मा का परिणाम मध्यम मानने वालों के दोष आएगा स्थिति ऐसी है फिर भी मान बैठे हम लोग तो भिन्न लक्षण इत्यादि बोला पृथक विधान का था पृथक विधान का था पृथक प्रकारान बोलती है मान भिन्न लक्षण भिन्न भिन्न लक्षण वाला शरीर है आत्मा भी भिन्न भिन्न लक्षण वाली जिसके अंश माना जाता हो आत्मा छोटा बड़ा पना दिखता हो शरीर के भेद के कारण जिस ज्ञान के द्वारा व्यक्ति मन विजानाती इस ज्ञान कहा जो ज्ञान से ऐसा जानता हो व्यक्ति यही वत होगा सर्वभूतेषु ज्ञान से कर्तृत्व असंभवाद एवं ज्ञान व्यक्ति या यज्ञान है और तजज्ञान दिया है तो ज्ञान का कर्ता ज्ञान तो नहीं हो पाएगा यज्ञानम व्यक्ति कौन ज्ञानम व्यक्ति ऐसा नहीं हो पाएगा तो क्या कहना है ज्ञान है ना तृतीय अर्थ करना है यज्ञान है ना व्यक्ति जिस ज्ञान के द्वारा जाता है यही कह रहे हैं सर्वभूतेश सभी भूतों में ज्ञान से कर्तृत्व असंभव ज्ञान करता नहीं बनता कभी भी ज्ञान तो जानने का साधन है क्या है हाँ करता नहीं है वो तो कर्तृत्व का असंभव है तो यज ज्ञान तज ज्ञान कैसे बोला तब कहते ये न ज्ञान व्यक्ति अर्थ करना उसका यज ज्ञानम माने ये न ज्ञान व्यक्ति तज ज्ञानम यही होगा तज ज्ञानम राजसम विद्धि अर्थ करना जिस ज्ञान के द्वारा ऐसा जानता यज में ये न ज्ञान है ना यज ज्ञान समाज है वहां बोला क्या बोला जो ज्ञान ऐसा नहीं जिस ज्ञान के द्वारा यह है तद ज्ञानम राजसम रजो निवृत्तम कहते हैं उस ज्ञान को राजसम तो माने रजोगुण के द्वारा संपादित है यह संपन्न हुआ है ज्ञान उत्पन्न है ऐसा समझो ये कहा ठीक है कहा पृथकत्व मान पृथक विधत्व पूर्ववृत्ति पहले एक, एक शब्द दिया पृथक बोला हुआ है फिर पृथक विधान बोला हुआ है तो पृथक तो शब्द दो बार आ गया श्लोक में मूल में भी और भाष्य में भी है एक पृथक पेड़ कहा हुआ है और फिर पृथक विधान ये पुनरुक्ति एक ही शब्द दो बार पुनरुक्ति है ये शंका आ गई पृथकत्व पृथक विधत्व दो प्रकार पृथक विधान बोला है पृथक बोला है पृथकत्व न बोला पृथकत्व और पृथक विधत्व अच्छा, पुनरुक्तम पुनरुक्ति हो गई शंका पुनरुक्ति दोष है वक्ता की दोष है उसके पास कोई बोलने की शब्द नहीं थे तो एक ही शब्द को दोहराता रहता है इसको पिष्ट पेशर बोलते पिसा हुआ को पिस्ता क्या फल मिलेगा कोई फल नहीं तो पिसा हुआ एक ही शब्द को दोहराते रहना उसका क्या परिणाम होगा ये पूर्ण दोष है बता तो ये शंका कर दी तो कहा नहीं ये न ज्ञान करण रूप में लेना ज्ञान को क्या लेना हाँ करता नहीं ज्ञान ज्ञान को जानता नहीं जिस ज्ञान से ज्ञाता जानता है ये अर्थ करना ये कहा होगा असंज्ञा हाँ हेतु हेतु मत विभागम विवक्षित कार्यकार भाव है एक तो कारण रूप में है एक कार्य रूप में हेतु हेतु मतभाव है विभाग होते भिन्न ये कहते हैं उसका अर्थ कर दिया है भिन्नात्मान भिन्नात्मान पृथक विधान भिन्न भिन्न आत्मा पृथक प्रकार का भिन्न लक्षण भिन्न भिन्न आत्मा को जिस ज्ञान के द्वारा जानता हो जाता है प्रत्येक शरीर में भिन्न भिन्न प्रकार के जो आत्मभेद दिखता है छोटे बड़े शरीर में छोटे बड़े रूप में आत्मभेद दिखता हो ऐसे ज्ञान के द्वारा जितना बड़ा शरीर उतना बड़ा आत्मा दिखता हो तो छोटे शरीर में आत्मा छोटा दिखाई देगा पृथक दिखा यही होगा भिन्न भिन्न प्रकार अब बड़े शरीर में बड़ा दिखेगा आत्मा इत्यादि ऐसा नहीं वो तो उपाधि छोटी बड़ी होने से ऐसा लग रहा है आत्मा में भेद नहीं है ये कहना है सिद्धांत का ज्ञान से ज्ञान कर्तृत्व अयुक्तम ज्ञान को या कर्ता बनाना और ज्ञान को ही जानना ज्ञान ज्ञान को ज्ञान ने ज्ञान को जानना बनता ही नहीं तो फिर शंका आगे तो कहा ये न ज्ञान करना उसका अर्थ इस ज्ञान का अर्थ ये न ज्ञान है ना जिस ज्ञान के द्वारा जानता हो यह अर्थ करना ज्ञाता जिस ज्ञान के द्वारा जानता हो यह अर्थ करना कहा आगे कहते हैं तामस ज्ञान के बारे में चर्चा करते हैं यही है यत्व इत्यादि कहा यत्तु कृष्ण वध एक कार्य सप्तम हेतुकम अतत्वार्थमदल्पम च तत्तामसमुदाहृतम यत्तु कृष्णवर एकस्मिन् कार्ये सप्तम अहेतुकम् अतत्वार्थमदल्पम् च तत्तामसमुदाहृतम् तमोगुणजन्य जो ज्ञान होगा तामस ज्ञान उसकी चर्चा है यहाँ तू माने किंतु वो दोनों से पृथक दिखाने के लिए तू लगा पहले विलक्षणता के लिए सात्व ज्ञान राजस ज्ञान दोनों से पृथक है ये विलक्षण है कौन तामस ज्ञान यत ज्ञानम यो ज्ञान यत माने ज्ञानम कृष्णवध एक एक ही शरीर में संपूर्ण यही आत्मा है अन्य नहीं है यह समझता हो जिस ज्ञान के द्वारा ये शरीर में ही आप एक ही शरीर में आत्मा समझता हो अन्य शरीर में नहीं समझता हो एक ही में आत्मा यही है बाकी नहीं ऐसा समझता जिस ज्ञान से ऐसा होता हो कृष्णम बद एकस्मिन संपूर्ण वाला एक ही में कृष्ण बद माने संपूर्ण बद एक ही यही एक ही शरीर में आत्मा है अन्यत्र कुछ नहीं है यह समझता हूं जो जो ज्ञान के द्वारा ऐसे ज्ञाता समझता हो अथवा एकस्मिन कार्य अथवा बाहर जो प्रतिमादि कार्य होते हैं ईश्वर वहीं एक ही में दिखता प्रतिमा में ईश्वर दिखता हो अन्यत्र में दिखता हो क्योंकि तो भीतर आत्मा दिख रहा है यही शरीर में आत्मा दिख रहा है अन्यत्र में दिखता हो और बाहर में प्रतिमा में ईश्वर दिखता हो अन्यत्र में दिखता हो जो प्रतिमा पकड़ी हुई है जिसको लेकर जिस आकृति वाला प्रतिमा लेकर बैठा होगा हाँ, वही उसी में ईश्वर है अन्यत्र ईश्वर नहीं बुद्धि होती है जिसके आगे द्वारा ज्ञाता को तो दो दो ही रूप जानता आत्मा में यहां ईश्वर माने बाहर प्रतिमा प्रतिमा में ईश्वर अन्यत्र इस पर व्यापक नहीं कहीं भी नहीं परिचिन्न दिखता हो आत्मा भी यही है परिचिन्न है यही शरीर में बाकी है ही नहीं व्यापकता समाप्त कर देता हो आत्मा की व्यापकता ईश्वर की व्यापकता दोनों समाप्त करके दिखा जाता हो जिस ज्ञान के द्वारा उस ज्ञान को तामस ज्ञान कहा जाता है कहते हैं यद तो कृष्णवत वत सारे के सारे वत एक ही में दिख एक एकस्मिन कार्य का एक ही में सारा एक ही देह में संपूर्ण देखना आत्मा यही है समा यही समावेश करना सब अन्यत्र ही नहीं आत्मा समझना जिस ज्ञान से होता हो अथवा एक में कार्य जो प्रतिमादि कार्य है वह यही आत्मा है यही परमात्मा है बाकी कोई नहीं परमात्मा ये बुद्धि होती है जिस ज्ञान से सप्तम एक ही कार्य में आसक्त हो जो व्यक्ति आत्माभाव से आसक्ति एक ही में हो चाहे इसी शरीर में हो चाहे इस स्वरूप से प्रतिमा में ही एक ही प्रतिमा में हो अन्यत्र हो जो ऐसा ज्ञान अहेतुकम तर्क रहित जो ज्ञान होगा तर्क शून्य हेतु तो मान तर्क होता है तर्क रहित ज्ञान है तर्क से सिद्ध होता नहीं है ऐसे मान्यता लेके बैठा हो जिस ज्ञान के द्वारा और अतत्वार्थवत यथाभूत विषय होगा तत्वार्थ बोलते हैं उसको यथाभूत विषय को विषय करने वाले ज्ञान को बोलेंगे तत्वार्थवत ज्ञान क्या बोलेंगे न तत्वार्थवत अतत्वार्थवत यथाभूत जैसा वस्तु जैसा है उसको विषय न कर रहा जो ज्ञान अतत्वार्थवत ये होता है ज्ञान का विशेषण है अतत्वार्थ वाला ज्ञान यथाभूत विषय को विषय न कर रहा जो ज्ञान जो वस्तु होना चाहिए वो वस्तु नहीं अन्य को विषय करता हो जैसे रज्जु में सर्पबुद्धि से पकड़ता हो इस रूप से अतत्वार्थवत अल्पम च और अल्प ज्ञान हो जब यथाभूत वस्तु को पकड़ा ही नहीं हो ज्ञान है तो वो तो अल्प तो ही है परिचन्न भाई तो ही है तत्तामस उदाहरण उस ज्ञान को तामस ज्ञान करके कहा जाता है शास्त्रकारों ने ऐसा कहा है उदाहरण दिया है कहा पास में कहते यद तू माने तू माने किंतु यद ज्ञानम जो ज्ञान ऐसा ज्ञान जो सात्विक ज्ञान भी नहीं राजस ज्ञान भी नहीं ऐसा ज्ञान है कैसे ज्ञान कृष्णवत समस्तवत कृष्ण कृष्ण शब्द का समस्त होता है संपूर्ण कृष्णवत मान समस्तवत समस्त वाला सर्व विषय इव एक कार्य देह एक ही कार्य जो शरीर है इसी में संपूर्ण यही देख रहा आत्मा को ऐसा ज्ञान होता है यही और कुछ नहीं समझता हो अथवा बहिर्वा प्रतिमा एक एक ही कार्य जो बाहर प्रतिमा आदि है उन्हीं में ईश्वर दृष्टि वही होता है केवल यही शरीर में आत्मदृष्टि और बाहर में प्रतिमा में ही ईश्वर दृष्टि माने उनकी व्यापकता समाप्त कर देता हो जिस ज्ञान के द्वारा आत्मा की व्यापकता ईश्वर की व्यापकता दोनों व्यापकता को समाप्त करे परिचिन्न अति परिचिन्न भाव में लाता जिसका बहिर्भाव प्रतिमान हो सक्तम आसक्त होकर बैठा हो जिस ज्ञान के द्वारा व्यक्ति आसक्ति कर जाता हो यही है और कुछ नहीं समझता हो आत्मा यही शरीर में ही है और ईश्वर ये प्रतिमा में ही अन्यत्र ईश्वर नहीं है आत्मा ये शरीर में ही अन्यत्र आत्मा नहीं है ये बुद्धि में बैठा हो सकता है आसक्त है यथावान वह आत्मा ईश्वर वाला बस इतना ही आत्मा परिचन्न इतने परिमाण वाला ये शरीर जितना बड़ा है इतने आत्मा परिमाण वाला है जितना मानता हूं अथवा ईश्वर भी ये प्रतिमा जितनी बड़ी छोटी है उतने बड़ा थोड़ा ईश्वर होता है इसे अतिरिक्त नहीं होता ऐसा मानता हूं आत्मा ईश्वर हुआ ना तो परम अस्थि इससे अधिक है ही नहीं ना ईश्वर की सत्ता है ना आत्मा की सत्ता है ऐसे ज्ञान से होता हो यथा नग्न छपण का आदि नाम कहते हैं जैसे जैनियों क्या होता है नग्न होते हैं वो और छपणक होते हैं माने अनाशक बन के यहां मुख में बांध के चलते हैं ना इस ढंग से चलते हैं तो मच्छर आदि का नाश ना हो मक्खी आदि का नाश ना हो ऐसे कीड़े आदि न घुसे भीतर करके मुख में बांध दे छपणक होते हैं नग्न नंगे धड़ के होते हैं वो जो दिगंबर वाली जैन होंगे नंगे में होते हैं तो नम्र क्षपण का आदि नाम जैसे उनके यहां जो ज्ञान होता है ना आत्मा में सत्ता यही मानते हैं एक ही शरीर में मानते हैं शरीर के बराबर आत्मा अतिरिक्त आत्मा नहीं है जितना बड़ा शरीर होगा उतने बड़े आत्मा उनके यहां का मत है मध्य परिमाण वाले यही मानते हैं यही शरीरानुवर्ती देह परिमाण हो जीव या आत्मा जीव जो है ना शरीर का अनुवर्तन करता है कितना बड़ा आत्मा होता है शरीर जितना बड़ा उतना बड़ा बस हाँ, पूर्वापर शरीर में छोटे मोटे होता था आत्मा भी छोटा मोटा हो जाता है कभी वो रबड़ की तरह खींच जाता है लंबा हो जाता है बड़े शरीर में जाना पड़े और छोटे शरीर में संकुचित हो जाता है आत्मा ऐसा मान लेता है जैनी हो गया तो शरीरानुवर्ती होता है आत्मा उनके यहां देह परिणाम हो जीव देह के परिमाण वाला ही जीव होता है जितना परिमाण वाला शरीर है उतने परिमाण का जीव मानते हैं वो ठीक है ईश्वर व पाषाण धारवाद धारवादी व जैसे ईश्वर को ईश्वर कितना बड़ा होता है जैसे पत्थर की मूर्ति हो गई तो उतने बड़ा ईश्वर है अथवा काष्ठ की मूर्ति वो दारू की बना दी मूर्ति काष्ठ की तो उतने बड़ा ईश्वर है ईश्वर की परिमाण उतना ही मानते हैं इनकी व्यापकता दोनों की समाप्त कर देता जो तो ज्ञान मात्र इति एवं एकस्मिन कार्य है एक ही कार्य एक ही शरीर हो चाहे एक ही प्रतिमा हो कार्य ही है यही है कृष्णवत एक कार्य कहा था यही है एक ही कार्य में एक कार्य सप्तम आसक्त है पर होके बैठा हुआ होगा जिस ज्ञान के माध्यम से यही है और कुछ नहीं है आत्मा माने ये शरीर मात्र ही आत्मा है शरीर मात्र में ही आत्मा है बाहर आत्मा नहीं है ईश्वर भी प्रतिमा में ही ईश्वर है अन्यत्र नहीं है ये बुद्धि लेकर बैठ जाते हो आसक्त होकर बैठा तो जिस ज्ञान के द्वारा अहेतुकम हेतु वर्ग तर्क रहित है वो ज्ञान तर्क सिद्ध नहीं है निरुक्तिकम का उसका कम अर्थात हेतु वर्दे वर्ग निरुक्तिकम युक्ति रहित वो ज्ञान ऐसा ज्ञान अतत्वार्थवध और तीसरा विशेषण दिया ज्ञान का अतत्वार्थवध कहा तो अतत्वार्थवध बनाने के लिए नया समाज से पहले तत्वार्थवध दिखाना पड़ेगा तो यथा भूतो अर्थ तत्वार्थ यहां से चलना जो जैसा वस्तु है वैसे उसको कहेंगे विषय को कहेंगे तत्वार्थ वास्तविक विषय वो है यथार्थ सो अश्य ज्ञाय भूतो अस्थि यथार्थ विषय जिन ज्ञान का विषय बना होगा उसको कहकर तत्वार्थवत क्या बोलेंगे कौन वो ज्ञान हो जाएगा हाँ, जो भूत अर्थ है जैसा वस्तु है वैसे जो ज्ञान के द्वारा बताया जाए उस ज्ञान को तत्वार्थवत बताया जाएगा न तत्वार्थवत अतत्व अब नए समाज लगा लेना तो तत्वार्थ वाला नहीं है ज्ञान तत्वार्थ वाला है मैंने अयथा वस्तु को बताने वाला ज्ञान है किसको ऐसा बताने वाला ज्ञान है वो अतत्वादवत आयत्वकत्वाद एवं अल्पम का माने उसकी युक्ति नहीं है इसलिए अल्प भी हो ज्ञान तुच्छ ज्ञान है वो अल्पम क्या अल्प विषयत्वाद अल्प क्यों हुआ वो मैंने तत्वार्थवत नहीं हेतु नहीं तर्क नहीं दे सकते उस ज्ञान की पुष्टि के लिए केवल शरीर मात्र ही आत्मा है शरीर मात्र आत्मा अन्य नहीं क्या युक्ति है तुम्हारे पास युक्ति नहीं उनके पास और अल्पम तुच्छ भी हो ज्ञान अल्प विषय तो क्योंकि उसका विषय अल्प है व्यापक आत्मा को शरीर मात्र में मान रहा है अल्प विषय बना रहा है व्यापक ईश्वर को एक प्रतिमा में मान के बैठा हुआ है यही है बस अन्य कोई नहीं है जैसे जैन आदि महावीर को परमात्म पुरुष मानते क्या उनके ईश्वर महावीर हाँ, उनको परमात्मा रूप से मानते हैं उसी में है परमात्मा ऐसे मान लेता अल्प विषयत्वाद उनका विषय अल्प होने से अल्पत्व है ज्ञान में अतत्वाचमत अल्पम सा कहा था अल्प फलत्वाद अथवा उसका फल अल्प है तुच्छ फल है व्यापकता में नहीं जा पाएगा उपासना इस प्रकार की उपासना करने वाला तत्तामस उदाहरण ऐसे ज्ञान को तामस ज्ञान कहा है मैंने व्यापक परमात्मा को मैंने परिचिन्न बना देना व्यापक आत्मा को परिचिन्न बना देना जिन ज्ञान का विषय बनता हो वो ज्ञान को तामस ज्ञान कहा जाता है तामसाराम ही प्राणिनाम अविवेकी नाम ईदृशम ज्ञान दृश्य जो तामस प्राणी होंगे जो अविवेकी होंगे अज्ञान से ग्रसित होंगे उनके इस प्रकार का ज्ञान उत्पन्न होता है कौन सा ज्ञान ज्ञान इस प्रकार ज्ञान यद कृष्णवदे कृष्ण कार्य सत्यम हेतुकम अतत्वादुपम सत्य ज्ञानम विद्युतामस इस प्रकार ज्ञान होता है कहा ठीक है है एकस्मय कार्य ज्ञान से सतत्व में दृष्टान थे एक ही कार्य में आसक्त युक्त ज्ञान है वो ज्ञान इतना ही है और नहीं है आत्मा इतना ही बड़ा है कितना बड़ा जितना फूट का शरीर उतना फूट का आत्मा अथवा ईश्वर इतना ही बड़ा है जितने फूट की प्रतिमा उतने फूट की ईश्वर उसे आगे ईश्वर की व्यापकता समाप्त इतना ही एक ज्ञान जो होगा यही है तामस ज्ञान एक कार्य एक जो कार्य है चाहे प्रतिमा कार्य हो चाहे शरीर कार्य हो प्रतिमा में ईश्वर दृष्टि शरीर में आत्मदृष्टि दोनों कार्य है ज्ञान से सत्व तो ज्ञान में आसक्ति है ज्ञान में आसक्त करके बैठा हुआ यही है करके दृष्टांत ने साधय थी दृष्टांत को दर्शित करते जैसे जैनियों क्या होता है बोलते हैं ये दृष्टांत यथा जैनी जैन नग्न छपड़ी का आदि नाम कहा था जैनियों के जिस प्रकार है शरीरानुवर्ती देह परिमाणु जीव ये आत्मा जो है ना जीव कैसा होता है शरीर के परिमाण का होता है जितने लंबा चौड़ा शरीर उतना लंबा चौड़ा जीव आत्मा यही मानता है ईश्वर कैसा कितना बड़ा होता है तो पाषाण के समान तो पत्थर मूर्ति अथवा दारू आदि मैंने काष्ठ आदि मूर्ति या मृतिका आदि मूर्ति जो भी होगा इसके समान जितना बड़ा बनाया जाए उतना बड़ा ईश्वर हो जाएगा इस प्रकार के एक ही कार्य में आसक्त युक्त होगा जिस ज्ञान के द्वारा आसक्ति होगी इतना ही है करके जानता हो अन्य नहीं जान समझता हो और हेतु से रहित भी है अहितु कम कहा हुआ है निर्युक्ति कम कहा हुआ तो युक्ति रहित है मैंने क्यों मारा तुमने ऐसा बोले तो उत्तर नहीं दे तो पाता केवल हाथ करके बैठेंगे हमारे गुरु जी ने ऐसे कहा बस हो गए तर्क नहीं दे सकते इस कारण से बताना पड़ेगा ना प्रमाण नहीं उनके पास केवल हट ऐसे ज्ञान का किसी पास होता हो हो सकता है यहीं पर कहीं बैठे हो ऐसे ज्ञान लेके बैठे हुए हो हाँ ये नहीं कि उधर ही दृष्टि करना अपने तरफ देखना कम लोग किस में बैठे हैं हाँ। स्थिति है निर्युक्ति कम कहा था यह निर्युक्ति का तुम कहा जो युक्ति रहित है तदेव ज्ञान से आभासत्व कारण यही है ज्ञान नहीं है ज्ञानाभास है इनके क्या है जैसे हेत्वाभाष होता है ज्ञान जैसा लगता है किंतु ज्ञान नहीं हो युक्ति रहित होने से ज्ञान आभाष है किस क्या होने से प्रमाण रहित होने से कारण आवास तत्व का कारण यही है युक्ति रहित तत्व ही कारण है ज्ञान अहेतुकत्वाद कहते हैं स्वरूप तो विषय तत्व आवास तो फलतो व इत्या ये कैसे आवास कैसे स्वरूपता आवास है या विषय तस् है या आवासत्व फल से है तीन में से तीनों से आवास है वो तो भी आवास है, ही नहीं हो गया ऐसा क्या विषय से भी आवास है तो अल्प विषय है उसका फल से भी आवास है का अल्प फल कहा था अल्प फल देने वाला है मेरा तामसम ज्ञानम उत्तलक्षण इत्यत्र अनुभवम प्रमाण थे जो तामस ज्ञान ये जो श्लोक में बताया गया है ये तो कृष्ण बदे कृष्ण कार्य सकता है नहीं तो कम तत्वार्थ तामस को कहा हुआ है तो तामस ज्ञान है पूर्व कहा गया जो लक्षण बता दिया उसका तामस ज्ञान का स्वरूप बताया हुआ है अनुभवम प्रमाण अनुभव दिखाते हैं क्या दिखाते हैं तामसाणाम ही प्राणी नाम अविवेकी नाम विदृशम ज्ञान दृश्य ने कहा इस प्रकार ज्ञान उनका अनुभव में आता है किनके तामस प्राणियों के अनुभव में आता है जो अविवेकी ज्ञानी है उनके अनुभव में आता है उनका अनुभव भी प्रमाण है इसमें क्या है उनका अनुभव प्रमाण है कहा त्रिविधम कर्म वक्तुम अनंतर तत्व त्रयोविद्या कहते आगे ज्ञानम कर्म से करता था त्रिदैव गुणभेद तक कहा था प्रचित गुण संख्या यथवा ने भी कहा था ज्ञान के तीन प्रकार की चर्चा होगी तो कर्म की चर्चा के बारे में आ गया दूसरे नंबर पर कर्म है श्लोक में उसके भी तीन प्रकार के कर्म होते हैं कर्म का स्वरूप तो तीन प्रकार का होता है यही है त्रिविधम कर्म त्रिप्रकारम तीन प्रकार के जो कर्म है भक्तों कहने के लिए अनंतर श्लोक तरफ आगे के तीन श्लोक इसके लिए है मैं तेईस चौबीस पच्चीस तीन श्लोक ये कहना है अथ इत्यादि शब्द ने कहा अथ कर्मण त्रैविद्यम उच्चते भाषण में कहा अनंतर ज्ञान के त्रैविद्य बता दिया इसका अनुपश्चात कर्म के तीन प्रकार के कर्म सुनो सात्विक कर्म राजस कर्म तामस कर्म कर्म का स्वरूप तीन प्रकार का होता है क्यों सबके सब संसार प्रकृति का कार्य त्रिगुणात्मक त्रिगुणात्मक है प्रत्येक में तीन गुण पाया जाता है किंतु गुणों का विभाग थोड़ा इस तरह से होता है कहीं सदुगुण प्रधान होता है कर्म कहीं रजुगुण प्रधान है कहीं तो तम गुण प्रधान है ये दिखाना है अच्छा कर्मण त्रैविध्यम उचित कर्मों के तीन प्रकार कहा जाता है कहा नियतम संग्रहितम अराग द्वेषत कृतम अफल प्रेक्षुणा कर्म यत्त सात्विक उच्यते नियतम संग्रहित अराग द्वेषत कृतम अफल प्रेक्षुणा कर्म यत्त्विक मुच्यते नियतम जो नित्य कर्म है नियत बोलो नित्य बोलो एक ही चीज है नित्य कर्म काम कर्म तो करना ही नहीं है बंधन के कारण है प्रतिषिद्ध कर्म करना नहीं बंधन के कारण है नरकादि यात्रा के कारण है नित्य कर्म नियतम मन नित्यम संग रहित नित्य कर्म करना फलाशक्ति से रहित होकर के करना फलाशक्ति नहीं संग रहितम फलासंग रहितम फल के आसक्ति से रहित होकर कर्तव्य बुद्धि से करना केवल मेरा कर्तव्य है करना ये समझ करके नहीं कि ये करने से इतना फल मिलेगा नहीं मैंने मजदूर के तरह नहीं पा मजदूर वो दिहाड़ी दिखती रहती है कितने घंटे मेरे हो गए वहीं दूसरे लोग स्वयं मालिक भी काम करता है कि तो उसको दिहाड़ी का ख्याल नहीं होता कर्तव्य समझता है वो मजदूर कर्तव्य नहीं समझता हम्म। फलाशक्ति से कर्म करने वाले मजदूर के समान है वो नियतम माने नित्यम जो नित्य कर्म है संग्रहितम आसक्ति रहित फलाशक्ति रहित होकर जो कर्म किया जाता है अराग द्वेषता कृतम राग से नहीं द्वेष से नहीं राग द्वेष युक्त होकर के नहीं ऐसा किया गया जो कर्म होगा अफल प्रश्न किसके द्वारा किया गया फल न चाहने वाले के द्वारा किया गया कर्म फलम इच्छा थी फल प्रेक्षु फल चाहने वाले को फल प्रेक्षु बोलते हैं अफल प्रेक्षु न फल प्रेक्षु अफल प्रेक्षु तेरह तृतीयांत है अफल प्रेक्षु प्रेक्षुणा फल नहीं चाहने वाले व्यक्ति के द्वारा किया गया जो कर्म होगा तो संग्रहित होकर के आसक्त रहित होकर के राग से रहित होकर के किया जाता है जो नित्य कर्म नियतम कर्म जो नित्य कर्म है वो यथ कर्म तत् सात्विकम उच्यते उस कर्म को सात्विक कहा जाता है ये कहा हुआ है नियतम माने नित्यम जो नियतम लिखा है बोल में उसका अर्थ नित्यम जो नित्य कर्म को नियत कर्म कहा नित्यम कहा वासी में संग्रहितम माने आसक्ति वर्जितम फलाशक्ति से रहित होकर के करना अराग द्वेषता कृतम राग प्रयुक्त है ना द्वेष प्रयुक्त कृतम राग द्वेष कृतम हो जाता है राग के द्वारा प्रेरित होकर करना अथवा द्वेष के द्वारा प्रेरित होकर करना ऐसा नहीं कर्तव्य मान के करना बस राग द्वेष का अधीन होकर नहीं कृतम तद विपरीतम राग द्वेष से किया हुआ ना हो उसको तद विपरीत कहा उसके तो विपरीत हो कृतम किया गया जो कर्म है अराग कृतम उसके द्वारा किया गया को राग रहित होकर के किया जाए कर्म को अराग कृतम कहा और किसके द्वारा किया जाता है साधक कैसा अफल प्रेम सुना का फल नहीं चाहने वाला ऐसा व्यक्ति के द्वारा फलम प्रेपसत थी फल प्रेपसु का फल को प्राप्त करने की इच्छुक को फल प्रेपसु कहते हैं प्राप्त इच्छु फल प्रेपसु तो फल को चाहने वाले जो होगा उसको फल प्रेपसु बोलते हैं फल तृष्णा फल में तृष्णा है जिसकी आसक्ति लेके बैठा है फल में ये कर्म का इतना ये फल मिलेगा जो फल तृष्णा वाला व्यक्ति है तद विपरीत है उसके द्वारा विपरीत हो यानी अफल प्रेक्षणा हो जाएगा अफल प्रेक्षणा कर्ता ऐसे कर्ता के द्वारा किया गया जो कर्म कृतम कर्म यत कर्म जो कर्म तत्सात्विक मुख्यति उस कर्म को सात्विक कहा जाता है यही है टीका में कहा तत्र सात्विकम कर्म नहीं होगा तीन प्रकार के कर्म के विचार करना उन्हें पहले सात्विक कर्म का निरूपण कर देगा नियतम इत्यादि बोल दिया हो गया आगे राजस कर्म की चर्चा करते हैं यत्व काम एक सुना कर्म साहंकारेण पुनः यते बहुलायासम मुदाहृतम यत्तु काम एक सुना कर्म साहंकारेण वह पुनः क्रियते बहुलायासम तदराजमुदाहृतम तू मन किंतु यत कर्म जो कर्म यत कर्म यत माने कर्म जो कर्म काम एक सुना यत कर्म काम की इच्छा फल की इच्छा काम्यते यदि काम फलम फल चाहने वाले के द्वारा तृतीयांत काम सुना कामम इप्सती काम काम काम्यक्षु ऐसा होता है आपके व्याप्त धातु है प्राप्त करने की इच्छुक फल प्राप्त करने की इच्छुक के द्वारा जो कर्म किया जाता हो अथवा साहंकार अहंकार के सहित साहंकार अहंकार के सहित करता हो मैं क्या करने नहीं सकता क्या वो कर रहा तो मैं भी कर सकता हूं अहंकार में करता हो श्रद्धा नहीं है केवल अहंकार लेके करता हो तो अहंकार है बात तो या तो फल चाहता हो या अहंकार के माध्यम से करता हो जब वो कर रहा तो मैं भी कर सकता हूं दोनों करूंगा ऐसे जो तो किया जाता हो क्रियते आयासम बहुत परिश्रम युक्त कर्म करता हो बहुत बहुत आयास है जिसमें परिश्रम है जिस कर्म में ऐसा कर्म करता हो तद राजसम तत्कर्म राजसम राजतम उस कर्म को राजस कहा गया है सही है रजोगुण से उत्पन्न कहा गया है स्पन्न करने का कहा यद तो काम है सुना मन फल प्रेम सुना इत्यर्थ उस कर्म का फल चाहने वाले के द्वारा किया जाता जो कर्म कर्म साहंकार जो कर्म किया जाता अहंकार के साथ अथवा साहंकार यदि न तत्व ज्ञान अपेक्षा तत्व ज्ञान की अपेक्षा नहीं कर केवल अहंकार के माध्यम से कर रहा जो कर्म ऐसा भी हो सकता है चिंता ही कहा लौकिक स्त्रोत्रीय निरहंकार अपेक्षा लोक में ख्याति चाहता है इसलिए कर्म कर रहा है नित्य कर्म कर रहा है दिखाता है दिखाने के लिए लौकिक लोक में चाहता है ये अहंकार श्रोत्रिय मुझे ये शास्त्र पठित है व्यक्ति नित्य कर्म कर रहा है लोग बोले श्रोत्रिय बोले लोग मुझे ऐसा बोले श्रोत्रिय हमारे वेद पढ़ने वाले को श्रोत्रिय कहा जाता है निरहंकार एक बड़ा निरहंकारी अहंकार का भाव देखो नित्य कर्म कर रहा अपना ऐसा बोले लोग अथवा निरंकार अपेक्षा अपेक्षा यही है उसका श्रोत्रिय की अपेक्षा है हाँ, निरंकार की अपेक्षा लोग मेरे बारे में ऐसा बोले ये शांत है अपना कर्म कर रहा है ऐसा बोले ये भावना से कर्म कर रहा है हाँ, ये मान लोग ऐसा मुझे कहें ये भावना उसकी है ये अहंकार यो ही परमार्थ निरहंकार वास्तविक जो निरहंकार होगा ये तो अहंकार के साथ कर रहा है लोग बोलेंगे देख करके किंतु भावना इसकी दूसरी है अहंकार है उसका तो वास्तव में जो वास्तविक जो अहंकार रहित व्यक्ति होगा वह आत्मविद आत्मवत्ता होता है कहीं कौन होता है हाँ, आत्मविद न तस्य कामेक्षित्व से कर्तृत्व प्राप्ति अर्थ कहा वहां कामेक्षित्व नहीं फल की आशा नहीं उस आत्मवत्ता में और बहुल आयास का कर्त बहुल आयास वाला कर्म है जो बहुत परिश्रम वाला कर्म का कर्ता भी नहीं होता वो कौन आत्मव्यता हाँ, कर्तृत्व की प्राप्ति भी नहीं उसमें आत्मव्यक्ता सात्विक से अपनी कर्म अनात्मविद साहंकार करता जो सात्विक कर्म होगा वही कर्म फिर अनात्मवेत्ता जो अहंकार के साथ करता हो अनात्मविद आत्मवेत्ता जो नहीं है वो भी साहंकार अहंकार करता अहंकार के साथ करता होता है किम होता है तामस ये कहने का तात्पर्य सात्विक कर्म के भी अहंकार युक्त हो जाता है करता तो राजतामस तामस का तो क्या कहना है वो अहंकार युक्त नहीं होगा करके क्या कहना जब सात्विक कर्म के स्थिति में भी अहंकार युक्त हो जाता है व्यक्ति मैंने ख्याति आदि के लिए कर जाता है तो राधा तामस में तो क्या कहना इसके लिए एक कहा लोके अनात्मविदा तो और निराकार उचित लोक में ऐसा कहा जाता है आत्मविद्ता नहीं है फिर उसको क्रिया को देख करके अहंकार के साथ कर रहा है मेरे को ख्याति प्राप्त हो करके किंतु लोग समझते हैं अनात्मविता आत्मविद्ता तो नहीं हो श्रोत्रियो ये तो शास्त्र पठित व्यक्ति है देखो आचरण कर रहा है ऐसा मानते हैं निरहंकार कहते हैं उचित हो अयम ब्राह्मण देखो ये ब्राह्मण कैसे निरहंकारी ब्राह्मण ऐसे बोलते हैं लोग में अनात्मवत्ता है माने केवल कर्म कर रहा है तो कर्म को देखते हुए बोलते हैं उसके भीतर की बात नहीं समझते लोग लोग में वैसा है थी तस्मात तद अपेक्षा है वह साहकार उसकी अपेक्षा करके यह सहंकार कहा हुआ है ये निरहंकारी है बोलते हैं को एक को अहंकारी करके कहा गया है आत्मवत्ता को लेकर के नहीं है पुनः शब्द पार पूर्वार्थ अंत में पुनः शब्द आया हुआ है सहंकार पूरा ये पुनः के कोई अर्थ नहीं है पार पूर्ति के लिए है सुलभ के पाठ की पूर्ति के लिए है यही है क्रियते बहुलायासन का कर्ता महता आयासे में जबरत कर्ता के द्वारा बहुत परिश्रम के द्वारा साध्य होगा जो कर्म बहुत परिश्रम करना पड़ता है रजुगुणी कर्म में तत्कर्म राजसम उदाहरण वो कर्म को राजसम से कहा गया है यही है ठीक है फलप्रेप सुना कर्ता यद कर्म क्रियते फल प्राप्ति की इच्छा से कर्ता के द्वारा जो कर्म किया जाता है तद राजस तो उत्तर उस कर्म को राजस कर्म कहते हैं ये आगे ले जाके संबंध करना कहा तत्व ज्ञान बता निरहंकार सहंकार तो अज्ञान अक्रियते कर्म यदि विवक्षा बारह की नहीं यहां पर जो तत्व ज्ञान वाला जो आत्मज्ञान वाला व्यक्ति को निरहंकार पूर्व कर्म होगा पूर्व पक्ष आगे बोलता है कर्म तो करना पड़ेगा उसको भी निरहंकार पूर्वक कौन आत्मवत्ता को निरहंकार पूर्वक और सहंकार तो अज्ञान जो अज्ञानी होगा उसको अहंकार पूर्वक कर्म हो क्रियते कर्म कर्म तो करना है ये दोनों को आत्मविद्ता को भी करना है और अनात्मविद्ता को करना है एक अहंकार रहित होकर के करेगा और एक अहंकार सहित होगा ये विवक्षा भारत में ऐसा नहीं है यार जिस श्लोक को देखते हुए ऐसा लगता है जो से होगा अहंकार होगा तो तत्वज्ञानी निरहंकार वाला होगा तो तत्वज्ञानी को भी कर्म करना है निरहंकार पूर्वक और तत्वज्ञानी है उसको कर्म करना है सहंकार पूर्व यही अर्थ आएगा बोलेगा पूर्वादी उसका फर्म कर देना है ये तो अतत्ववेत्ता में दो विभाग है इसको लेके कहा गया है तत्ववेत्ता को लेकर कर्म की बात ही नहीं है ये कहना चाहते हैं सहंकार इत्यादि शब्द है ना साहंकार माने सहंकार न तत्व ज्ञान अपेक्षा तत्व ज्ञान की अपेक्षा सहंकार नहीं मिला वो तत्व ज्ञान ही निरपेक्ष कर्म करे और ये सहंकार पूरा ऐसा नहीं है चिंतन फिर क्या है हम्म। तो लौकिक श्रोत्रिय निरहंकार अपेक्षा तो लोक में भी कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं पथित होते हैं निरंकारी होते हैं उनकी अपेक्षा शानदार कहा लोक में भी ऐसे होते हैं श्रोत्रिय होंगे शास्त्र पठित होंगे अहंकार रहित भी होते हैं लोक में भी होते हैं तत्व तो ज्ञान तो अभी हुआ नहीं फिर भी ऐसे होते हैं वो है निरंकारी उनकी अपेक्षा लेकर के इसको शांकारी कहा तत्ववेत्ता तो को लेकर के नहीं ये कहा हुआ तत्व ज्ञान बता निरहंकार कृतम कर्मापेक्ष अहंकारेण अज्ञान कृतम एतत् कर्म यदि न विवक्षते चेत यदि तत्वज्ञान वाले के द्वारा निरहंकार के द्वारा कर्म किया हुआ होता है और उस कर्म की अपेक्षा करके साहंकार अज्ञान या अहंकार के साथ कर्म किया गया कर्म ये कर्म न विवक्षते चेत यदि विवक्षा नहीं होती हो फिर तरही किमत्र विवक्ष फिर क्या है यहां विवक्षा क्या है मानी लौकिक ही दो को लेकर के विवक्षा है लोक में भी एक होता है निरहंकार तत्ववेत्ता होता है निरंकार श्रोत्रिय होता है और इस अहंकार होता है उसको लेकर के पृथ्वी किम तरी कर पूर्वाद बचा फिर मान तत्ववेत्ता और अज्ञानी लेकर के विचार नहीं है तो साहंकार शब्द किस्मत लगे एक निरहकारी तत्वज्ञानी है और साहंकारी अज्ञानी है यह अर्थ नहीं करना चाहते तो क्या अर्थ है ये दो दो शब्दों का निरहंकार साहंकार साहंकारान पर निरहंकार होगा तो निरंकार किसम प्रयुक्त होगा तो उत्तर देना है वही दुरित रहता जो निष्पाप होगा वही व्यक्ति लोक में भी वर्तमान जीवन में दुरित रहता मैंने पाप रहित श्रोत्रिय शास्त्र पठित होगा लोकाद अनुपेत से लोक में जैसे पाया जाता है लोक के द्वारा ही प्राप्त होता है कैसे प्राप्त होगा श्रोत्रिय और निरंकार यहां भी पाया जाता है लोक में पाया जाता है पाप निष्पाप होगा वो अभिमान का अभाव होगा उसमें शास्त्र पठित होगा यही है श्रोत्रियो लोकादनते तस् तस्य यद अहंकार वर्जितम कर्म लो, लोक में अभी ज्ञानी तो तत्ववत्ता नहीं है अज्ञान में ही है किंतु निष्पाप है उसकी अपेक्षा करके उसके कर्म की अपेक्षा करके इदम सहंकार ने कृतम ये तो अहंकार ने कृतम इसके लिए कहा लोक में दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं एक निरहंकारी हो है और सहंकारी है उनको लेकर के अहंकार कहा गया है ये कहा कर्म उत्तम इत्या लौकिक इत्यादि लौकिक श्रोत्रिय निराकार लोक में भी श्रोत्रिय निराकार व्यक्ति पाए जाते हैं उनकी अपेक्षा से अहंकार यह करके पृथक किया गया है ठीक ननु तत्वज्ञान बतो निरहंकार से कर्मकर्तृत्व प्रत्यक्ष सहंकार इत्यादि किम निश्चित है तत्वज्ञान मन आत्मज्ञान वाले के कर्म को लेकर के निरहंकार वहां लगाया जाए और अन्य को कहा अज्ञान को कहा जाए सहंकार में क्यों न किया जाए अर्थ ये पूर्वादि की शंका तत्व ज्ञानवान जो होगा आत्मवित्ता आत्मज्ञानवान को तो निरंकारी जो होगा आत्मवित्ता शरीर में आत्मबुद्धि है नहीं उसकी कर्म करते तो अपेक्षा माने कर्म करने की अपेक्षा करके उसी कर्म की अपेक्षा से सहंकार इत्यादि की वजह से सहंकार ने क्यों नहीं बोला जाए दूसरे को ये शंका आ गई तथा यो ही कहा हुआ है यो ही परमार्थ निरंकार आत्मविद जो वास्तव में निरंकार आत्मवित्ता होगा वास्तविक निरंकार आत्मदत्ता होगा तस्य कामे सत्व बहुलायास कर्तृत्व प्राप्त नास्ती बोल दिया पूर्व में माने उसका काम मैंने विषयों की इच्छुक होना बहुत बहुत कर्म वाला बहुत परिश्रम वाला कर्तृत्व प्राप्ति नहीं है वहां न तस् है पूर्व नकार है प्राप्ति नहीं उसका ठीक है हम कहते हैं विशेषांतर प्रसाद तत्वविदो निवारिता अहंकार जो विशेषण दिया है ना कामेपु विशेषण दिया है क्या दिया है कामेपु दिया है अहंकार दिया है उसके फल से निरंकार शब्द यहां तत्वगता में नहीं गया न तत्व तद अपेक्षित एकदम विशेषण तत्व विशेषण इसके लिए है अहंकार से जो राजसे कर्म है अहंकार के साथ होने वाला जो राजस कर्म है उसी में कर्तृत्व कर्ता उसी में कर्तृत्व उसी में है इतने तक कैवृत्त न्याय का साधे कई न्याय इसलिए है लोग में भी निरंकारी जो होते हैं उनके द्वारा किया हुआ कर्म होता है उस कर्म की अपेक्षा ये अहंकार के साथ करता है सात्विक इत्यादि कहा हुआ है सात्विक अभी कर्मो अनात्मविद अहंकार करता है सात्विक कर्म है फिर भी अनात्मता के कर्म अहंकार के साथ होता हो तो मानी क्या राजस कर्म हो जाता है क्या कहना राजस्थान सात्विक कर्म भी ऐसा हो जाता है साहंकार होने पर साहंकार का कर्ता बनता है सात्विक कर्म का कर्ता बन जाता है तो राजतामस तो सांगारिक तो होंगे क्या कहा इसके लिए ननु आत्मविदो ननु आत्मविदो अन्य से निरहंकार तो आत्मवत्ता से अन्य में तो कोई निरहंकार होना संभव नहीं पूर्वाधि शंका करेगा फिर सहंकार ने कहा लगाएंगे आत्मवत्ता को नहीं लेंगे तो निरंकार वहां लेंगे तो सहंकार बनेगा यहां तो सहंकार शब्द दूसरे की अपेक्षाकृत है निरंकार को लेकर के सहंकार होता है तो सहंकार शब्द तो दिया ही है अहंकार के सहित तो अहंकार के रहित होकर के कर्म कहां दिखाएंगे आत्मगत्ता नहीं है निरंकारी नहीं है तो कहां दिखाएंगे ये पूर्वाद का कहना है ननु आत्मविदो अन्य से आत्मगत्ता से अन्य में निरंकार तो अयोगा निरंकार धर्म अन्यत्र तो रह नहीं सकता कथम तद अपेक्षा सहंकार नहीं उत्तम फिर उसकी अपेक्षा से सहंकार ने कैसा कहा ये सहकार तो लोक में ही दो हो जाते हैं निरंकार शब्द लोक में प्रयुक्त होता है लोके इत्यादि कहा हुआ था इसको लोके शब्द से दिया था लोके अनात्मविद अभी श्रोतियों निरंकार उच्चते लोक में आत्मवेदता तो अभी नहीं है फिर भी निरहंकार व्यक्ति कहा जा श्रोत्रिय होगा शास्त्र पठित होगा तो कैसा होगा अभिमान रहित होगा निरहंकार होगा विनम्र व्यक्ति होगा लोक में भी निरहंकार निरहंकार हो हम ब्राह्मण ऐसे बोलते हैं लोग में ये ब्राह्मण अहंकार रहित है ऐसे बोलते हैं अभी आत्मवेदता तो नहीं है वो तो लोक में निरंकार शब्द का प्रयोग हो जाता है उसको लेकर के साहकार का है संप्रति तामसम कर्म उदाहरण अब तामस कर्म के उदाहरण देते हैं कहा उदाहरण दे अनुबंध इत्यादि है समय हो गया है कह रखते हैं फिर ओम पूर्ण पूर्ण पूर्ण पूर्ण पूर्ण पूर्ण ओम शांति